अगर तुम उस पैगंबर की मदद ना करो तो यकीनन अल्लाह ताला ने उसकी मदद की जब उसे उन लोगों ने निकाल दिया था जिन्होंने कुफ्र किया जबकि वो दो में से दूसरा था जब वो दोनों गार में थे जब वो अपने साथी से कह रहा था गम न करो यकीनन अल्लाह ताला हमारे साथ है तो अल्लाह ताला ने उस पर अपनी सकीनत नाजिल की और उसको ऐसे लश्करों के साथ कुवत दी जिनको तुमने नहीं देखा और उन लोगों की बात नीची कर दी जिन्होंने कुफर किया और अल्लाह ताला की बात ही सबसे ऊंची है और अल्लाह ताला सब पर गालिब कमाल हमत वाला है